नन्हे पक्षी एक बार की बात है एक मुर्गा और एक मुर्गी जंगल में रहते थे दोनों एक साथ खाना खाते दाना चुगने जाते और शाम को घर वापस आ जाते एक दिन वो दोनों बहुत खुश थे मुर्गी ने नौ अंडे जो दिए थे Thank you. के अंडों पर बैठकर उन्हें सेती और मुर्गा खाना लाकर उसे दे देता मुर्गा मुर्गी से कहता लो मेरी मुर्गी खाना खा लो जल्दी ही हम पापा मम्मी बन जाएंगे रोज की तरह दोनों ने खाना खाया और मुर्गी बोली अजी सुनते हो तुम अंडों की रखवाली करो मैं पानी पी के आती हूँ ये कहकर मुर्गी ठुमक ठुमक कर चल दी तालाब की ओर जब मुर्गी तालाब पर पानी पी रही थी तभी तेज आंधी आने लगी जोर से हिलने लगे तेज हवाएं चलने लगी चीजें यहां से वहां उड़ रही थी और ये क्या उनका घोंसला टूट गया आठ अंडे नीचे लुढ़क कर टूट गए बस घोंसले में सिर्फ एक अंडा बचा रहा मुर्गा बहुत उदास हो गया अरे होकर इधर उधर भागने लगा तभी उसे एक अंडा दिखाई दिया अंडा फिर क्या था मुर्गा खुशी खुशी आगे दौड़ा उसने यहाँ से एक अंडा उठाया वहां से एक अंडा उठाया और पूरे आठ अंडे जमा कर लिए हाँ, हाँ, हाँ, उसने सारे अंडे पहले जैसे सजाकर रख दिए अब मुर्गा बहुत खुश था थोड़ी देर बाद मुर्गी पानी पीकर वापस लौट आई मेरे अंडे मेरे अंडे घबराई हुई मुर्गी ने यहाँ वहाँ देखा और नौ अंडों को घोंसले में देखकर चैन की सांस ली शुक्र है इतने तूफान में भी मेरे अंडे बच गए मुर्गे की घबराहट कुछ कम हुई दिन बीतते गए में से बच्चे निकलने लगे पर उनकी आवाजें अलग अलग थीं। एक दिन मुर्गा मुर्गी ने सोचा कि अपने परिवार को दाना चुगने के लिए तालाब के पास ले जाया जाए उस तालाब में बत्तखें तैर रही थी तभी बत्तखों की बुआ ने आवाज लगा दी क्वैक क्वैक क्वैक क्वैक बत्तख बेटा बत्तख बेटा इधर आओ और ये क्या नौ में से दो बच्चे क्वैक क्वैक करते हुए तालाब में उतर कर तैरने लगे quack quack quack quack quack quack और होली बत्तखों के साथ मुर्गी हैरान हो उठी और बोली अरे वो बत्तख के बच्चे थे तालाब के पास एक पेड़ पर कुछ कौए काव काव कर रहे थे और फिर क्या था कौए के मामा ने आवाज लगा दी तभी उनमें से लंबी चोंच और काले रंग वाला बच्चा चला कौओं के साथ काव काव काव काव मुर्गी उसे देखते ही हैरानी से बोली वो कौए का बच्चा था मुर्गी उदास मन से आगे चल दी थोड़ा आगे चलकर उन्होंने तोतों का एक झुंड देखा जो खाने के लिए उड़ रहा था तभी तोतों की मौसी ने आवाज दे दी और लाल चोंच वाला हरे पंखों वाला बच्चा फुर्र करता हुआ उनके साथ हो लिया एक और बच्चा चला गया था अब तो मुर्गी बहुत परेशान हो गई वो वो तोते का बच्चा था मुर्गा मुर्गी परेशान मन से घर की ओर चल दिए रास्ते में पेड़ पर उन्हें कुछ कबूतर बैठे मिले कबूतर की नानी ने छत से आवाज लगा दी कबूतर बेटा कबूतर बेटा इधर आओ इधर आओ अब एक और बच्चा उड़ गया मुर्गी तो मानो रो ही पड़ी वो कबूतर का बच्चा था मुर्गी की ये बात एक कोयल ने सुन ली उसने भी अपने बच्चे को आवाज दे दी कोयल बेटा कोयल बेटा इधर आओ कोयल बेटा इधर आओ और कोयल का बच्चा भी अपनी मम्मी के साथ चला गया को कुकू को कुकू मुर्गी ने फिर वही कहा क्या वो वो कोयल का बच्चा था मुर्गी ने मुर्गी से कहा चुप चुप हो जाओ चलो चलो घर चलते हैं शाम हो गई है चलो चलो ना घर चलते हैं मुर्गा भी काफी घबराया हुआ था शाम घिर आई थी आकाश में बादल छा गए थे गड़गड़ाहट हो रही थी और बारिश भी होने वाली थी उनमें से एक बच्चा पंख फैलाकर खुशी से नाचने लगा आ, आ, आ, मुर्गी डरकर बोली वो मोर का बच्चा था चुप हो जाओ चुप हो जाओ चलो चलो घर चलते हैं चलो मुर्गे ने मुर्गी को तसल्ली दी और वो दोनों घर चले गए थी अंधेरा भी हो गया था और मुर्गा मुर्गी के पास दो बच्चे रह गए थे अंधेरा होते ही पेड़ की कोठर से आवाज आई तभी गोल आंखों वाला एक बच्चा अंधेरे में उड़ गया मुर्गी मुर्गी से रोते हुए बोली वो उल्लू का बच्चा था सिर्फ एक बच्चा कहीं नहीं गया था थोड़ी देर बाद वो बोल पड़ा ये आवाज सुनते ही मुर्गा मुर्गी एक साथ खुशी से बोल पड़े यही है हमारा चूजा नौ नन्हे पक्षी